एक बार हम बिहारी जी का दर्शन करने गए वृंदावन में तो एक आदमी श्लोक बोल रहा था पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव पाहिमाम पुनर्युताक्ष सर्व पाप हरो हरि तो एक आदमी ने तुरंत हमको सौंप दिया देखो क्या सनातन धर्म है अपने को पापी पापी पापी रख रहे हैं ये क्या सनातन धर्म है और पापी हो जाएंगे मैंने कहा था चेहरों में बताता हूँ बिहारी जी का दर्शन कर ले बाहर निकले मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बिहारी जी के सामने पापो हम पाप कर्मा हम ये उच्चारण रूप कर्म करने के बाद उसके मन में क्या वृत्ति उदय होगी फल वृत्ति का वर्णन करो अरे ये तो समझ में नहीं आया अरे इसका फल होगा निष्पापोहम इत्याकारक वृत्ति देखो पापोहम देखो एक तो पाप कर्म किया जिससे पापोहम ये वृत्ति बनी मैं पापी हूँ ये वृत्ति बनी एक तो उसने चोरी की चोरी के करने के बाद मैं पापी हूँ ये वृत्ति बनी और इसके बाद वो बिहारी जी के सामने गया और उसने कहा महाराज मैं पापी हूँ ये उच्चारण किया वाणी से उच्चारण किया और मन से सोचा तो ये जो जान बूझ करके उसने कर्म किया मैं पापी हूँ ऐसा उच्चारण किया और मैं पापी हूँ ऐसा विचार किया इसके बाद क्या वृत्ति उसके मन में आवेगी आप बताओ उसके मन में वृत्ति आवेगी कि बिहारी जी के सामने अपना पाप स्वीकार करके मैं निष्पाप हो गया निष्पापो हम इसका नाम सनातन धर्म है देखो ये आपको छोटी बात बता देता हूँ इस प्रसंग में वृत्ति की जो प्रतिक्रिया होगी उस पर ध्यान पर करना पड़ता तो क्या वो निष्पाप हो गया प्रश्न है असल में वो पापी हुआ नहीं था है ना और निष्पाप हुआ नहीं उसने पहले अपने में पाप का अध्यारोप किया था अपने शुद्ध स्वरूप में और बाद में आ, उसका अपवाद हो गया निष्पापो हमसे पापित्व का अध्यारोप हुआ था और निष्पापत्व की वृत्ति से पापित्व का अपवाद हो गया तो अध्यारोप अपवादाध्याम निष्प्रपंचम प्रपंच से ये, ये बात आपको जानबूझ के इसलिए सुनाई कि वेदांत कहीं भी किसी अंश में धर्म उपासना और योग की साधना का विरोधी नहीं है तो <clears throat> ये बात आपको जहां शंका हो है ना जिस विषय में आपको प्रश्नोदय होता हो उस विषय में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल छुट्टी है इसकी तो धर्म उपासना और तत्व ज्ञान तो अब देखो अध्यारोप और अपवाद हुआ तो अच्छा वो क्या हुआ वो निष्पापी हो गया कि निष्पाप हो गया हम कहते हैं कि जैसे पहले वो कर्म करने से पापी हो गया था और कर्म करने से अपने को निष्पापी मान लिया निष्पाप मान लिया कर्म क्या किया हाथ जोड़ा सिर झुकाया उच्चारण किया मन में भी पश्चाताप किया कर्म करने से ही उसने अपने को पापी माना था और कर्म करके ही निष्पाप माना इसलिए कर्म में महत्व बुद्धि उसकी गई नहीं बनी हुई है तो फिर जब कोई बुरा काम करेगा तब तो अपने को पापी मानेगा और फिर प्रायश्चित करेगा तो अपने को निष्पाप मानेगा और इस तरह अध्यारोप और अपवाद में उसका सारा जीवन व्यतीत होगा लेकिन यदि वो उस बात पर विचार करे कि जिसने अपने को पापी माना था और जिसने अपने को पुण्यात्मा माना था है? इन दोनों है ना इन दोनों अभिमानों में मैं पापी हूँ एक अभिमान मैं पुण्यात्मा हूँ दूसरा अभिमान मैं पापी हूँ मानने वाला दूसरा काल और मैं निष्पाप हूँ मानने वाला दूसरा काल मैं पापी हूँ मानने का दूसरा निमित्त और मैं निष्पाप हूँ ये मानने का दूसरा निमित्त निमित्त का भेद होने पर भी कर्म का भेद होने पर भी वृत्ति का भेद होने पर भी अभिमान का भेद होने पर भी तुम अनेक हो कि एक हो ये सवाल है है ना तुम अनेक हो कि एक हो और वो दरअसल पापी आत्मा है कि नहीं ये प्रश्न है तो असल में पापी और पुण्यात्मा न होने पर भी जब वो पापी से एक होता है तब पापी जब पुण्यात्मा से एक होता है तब पुण्यात्मा जब दोनों से अलग होता है तब दृष्टा है और जब अपने को ब्रह्म जान लेता है और नारायण हाँ। तो अब ये देखो अध्यास की बात आपको सुना ये ये पापी पुण्यात्मा इसमें सनातन धर्म भी ठीक है है ना कर्म को एक कर्म वासना से एक कर्म निमित्त से उत्पन्न पापी हूँ इस भावना को निवृत्त करने के लिए मैं निष्पाप हूँ इस अभिमान के जनक कर्म करने चाहिए ये प्रायश्चित हो गया इष्ट देव से प्रार्थना और उससे भरोसा करने करके अपने को निष्पाप समझना चाहिए ये दूसरी बात हुई और पाप और पुण्य का चोला छोड़कर अपने स्वरूप में दृष्टा स्वरूप में बैठ गए ये तीसरी जुक्ति हुई और दृष्टा को ब्रह्म जान करके हमेशा के लिए पाप पुण्य का झगड़ा मिटा दिया अभिमान का झगड़ा मिटा दिया ये चौथी बात हो गई तो आप अभ्यास को बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम समझ लीजिए इसी तरह से होता है मैं सुखी हूँ और मैं दुखी हूँ हाँ जिस समय आप सुखी हैं उस समय दुखी नहीं है जिस समय दुखी हैं उस समय सुखी नहीं है पर सुखी और दुखी ये दोनों तो कुरते हुए हाँ मातम पूर्ति करने के लिए जाते हैं तो काली पोशाक पहनने के लिए जाते पहन के जाते हैं और नारायण किसी के ब्याह शादी में जाते हैं तो वो चमाचम चमाचम रंगीन साड़ी पहन के जाते हैं तो मैं सुखी हूँ ये रंगीन साड़ी है हाँ, और मैं दुखी हूँ ये मातम पूर्ति की काली पोशाक है और तुम न सुखी हो न दुखी हो हाँ। हम एक ही दिन देखते हैं और एक ही प्रयत्न में निकलते हैं है ना एक ही दिन और एक के घर में गए ब्याह में खूब हंसे खूब खेले दूसरे के घर घर गए मातम कुर्सी में तो रो के आए अब उनसे पूछो कि तुम क्या हो तुम सुखी हो कि दुखी हो तो सुखी के घर गए तो सुखी और दुखी के घर गए तो दुखी तो जैसे दूसरे के घर जाने पर अपने को सुखी दुखी बना देते हैं ना हाँ, ये क्या हुआ हम न सुखी है न दुखी पर अभ्यास हुआ इसका नाम अभ्यास हुआ आप अभ्यास को और अच्छी तरह समझना है इस दूसरे के घर के सुखी पने को अपने में आरोपित करना ये अभ्यास है और दूसरे के घर के दुखी पने को अपने में आरोपित करना इसका नाम अभ्यास है तो जैसे दूसरे के घर का लेते हैं ना ऐसे आपका जो मनी राम है ना बहु रुपया है ना ये भी कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है तो जब आ, जब ये सुखी होता है तब आप अपने को सुखी मान लेते हैं और हंसने लगते हैं ये नहीं सोचते हैं कि हम इसके कब्जे में आ जाएंगे तो ये थोड़ी देर के बाद जब रोने लगेगा तो हमको भी रोना पड़ेगा है तो ये नहीं कह सकते कि हे मन चाहे तू रो और चाहे हंस न हम तेरे साथ हंसते हैं न तेरे साथ रोते हैं ऐसा क्यों नहीं कह सकते ये जो हंसाने और रुलाने के जो निमित्त है ना उनको सच्चा मानते हैं है ना ये हंसाने और रुलाने के जो निमित्त हैं एक आदमी के घर में एक बहुत अच्छा है ना बेटा हो अच्छा पुरुष था उसने घर में कमाया था पहले पांच रुपए से शुरू करके पचास लाख रुपए तक उसने घर में कमाई की थी उसके बच्चे थे उसकी पत्नी थी उसके पुत्र बधू थी उसके पौत्र थे जब मरने का समय आया ना तो बीमार पड़ गया था दो तीन महीने चार महीने खाट पर पड़ा रहा और वहीं लघुशंका भी करानी पड़े और वहीं शौच भी ले जाना पड़े वहीं खिलाना भी पड़े तो पहले तो ये घर के लोगों ने किया बड़े पड़े उसके बाद नर्स रख दी गई अब नर्स का खर्च भी खटकने लगा तो लोगों ने सोचा कि हे भगवान अब जल्दी इनको उठा लो है ना हाँ हाँ हे भगवान अब जल्दी इनको उठा लो तो ये जो मनुष्य का मन है ये कैसा है इस पर आप विचार करो ये जो मन पर विश्वास करके और इसके रंग रूपों के साथ अपने आप को मिला देता है वो अध्यास के अध्यास के चक्कर में पड़ जाता है अच्छा तो अब एक ये तो आपको आज जरा हल्की बात सुनाई आप इसको हल्की मत समझना हाँ, अगर शास्त्र की भाषा में सुनावे तो ये बड़ी कठिन हो जाएगी तो अब इस तरह से वेदयत्व की सिद्धि से आत्म सिद्धि तो क्योंकि हम घड़ा आता है हमारे सामने और हम उसको जानते हैं तो क्योंकि हम घड़े को जानते हैं इसलिए हम हैं तो क्या वेद्य जो पदार्थ है वेद्य माने जो जाना जाता है उससे आत्मा की सिद्धि होती है प्रश्न ये है, है? कि आत्मा होने से वेद्य होता है ये प्रश्न देखो तो वेद्य होते हैं अनेक अब वेद्य शब्द तो आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगा वेद्य माने जो जाना जाए ये पहली बात वेदांत की सीखने योग्य है ना अदृश्य अनात्मे से अनिलय में अभयम प्रतिष्ठान बिंदत तो भाई दृश्य से अब कोई कहे कि दोनों बात है दृश्य से दृष्टा की सिद्धि होती है और दृष्टा से दृश्य की सिद्धि होती है लो, लेकिन दृश्य तो अनेक है और दृष्टा एक है और वो दृष्टा कोई दूसरा नहीं है तुम हो ये बात है दृष्टा तो कोई दूसरा नहीं है तुम हो अच्छा तो तुम जो ये कहते हो कि जैसा दृश्य वैसा दृष्टा तो दृश्य तो अनेक है और दृष्टा एक है ये बात अनुभव सिद्ध है, है? तो अनेक से एक की सिद्धि नहीं होती एक से अनेक की सिद्धि होती है जिसने घड़े को देखा उसी ने कपड़े को देखा जिसने कपड़े को देखा उसी ने मकान को देखा तो देखने वाला एक है घड़ा कपड़ा मकान अलग अलग है अच्छा ये पैदा होने के पहले नहीं थे काल से परिच्छिन्न है और एक जगह है दूसरी जगह नहीं है देश से परिच्छिन्न है, और जो एक है तो दूसरा नहीं है वस्तु से परिच्छिन्न है और तुम है ना तुम न काल से परिच्छिन्न हो न देश से परिच्छिन्न हो न वस्तु से परिच्छिन्न हो भगवान तो ये जो ये जो आत्म वस्तु है ये वेद्यत्व मूलक इसकी तदधीन प्रकाश नहीं है वेद्याधीन प्रकाश आत्मा का नहीं है वो आत्माधीन प्रकाश वेद्य है अच्छा तो आप देखो वेद्य हो गया आश्रित वेद्य हो गया अनेक वेद्य हो गया नाशवान वेद हो गया जन्मवान हाँ। इसलिए अखंड अनंत में वेद हो गया मिथ्या और आत्म वस्तु हो गई सच्ची और सच और मिथ्या का विवेक न करने के कारण सच को मिला दिया मिथ्या से और मिथ्या को मिला दिया सच में आपको हम बिल्कुल निगर करना चाहते हैं इस मामले में कि यदि आप ये जान जाएं कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या है तो अगर आपको किसी ने डरा दिया हो कि सबको आप मिथ्या जान लोगे तो आपके घर में पैसा नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल झूठी बात है बोला आपके पैसे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा का तो आपके बेटे पर बेटी पर शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा आपके व्यवहार पर भी असर नहीं पड़ेगा लेकिन आप इस सत्य को जब जान जाएंगे कि आत्मा ही अद्वय सत्य है तो आप निर्भय हो जाएंगे आपको स्वातंत्र प्राप्त हो जाएगा है? आपको अज्ञान होने का कभी कोई डर नहीं रहेगा बिल्कुल मरने का डर नहीं रहेगा लोक लोकांतर में जाने का डर नहीं रहेगा फिर से अज्ञानी होने का डर नहीं रहेगा क्योंकि जिस अंतकरण में डर होता है वो अंतकरण इतना मिथ्यावादी है हमें मिथ्यावाद में देखा अंतकरण मिथ्या है ये बात बाद में देखना मिथ्यावादी है ये बात पहले देखना अंतकरण मिथ्यावादी है ये कैसे अरे दिन भर में तुमसे ही दस बार झूठ बोलता है तुम्हारा अंतकरण तुम ही से दिन भर में दस बार झूठ बोलता है एक बार तुमको बताता है कि तुम बड़े सुखी हो अच्छा बेवकूफ है ना इस समय तो सुखी बता रहा फिर बाद में दुखी मत बताना बोले बाद में वही कहने लगेगा कि तुम दुखी हो एक बार वो कहेगा अजर अमर हो तो एक बार कहेगा बस मरने वाले हो एक बार कहेगा सब पर भरोसा करो तब काम बनेगा दूसरी बार कहेगा अरे बाबा किसी पर भरोसा मत करना है तो ये तुम्हारा अंतकरण मिथ्या होगा तब तो होगा परंतु मिथ्यावादी जरूर है अरे कभी दिखता है देखो कल कल आसमान फटने वाला है हमको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा आश्चर्य होता है तुम्हारी बुद्धि ने भविष्य के साथ कैसे अपने को जोड़ा हमारे ज्योतिषी आए थे हम दक्षिणी सिद्ध थे उनको अरे वो तो सारी जिंदगी की बात बता दें ये हुआ ये हुआ ये हुआ मैंने कहा देखो भाई हम ये सब लाव लपट की बात नहीं जानते कल क्या हुआ तो तुम ठीक बता रहे हो हम मानते हैं परसों क्या हुआ ये भी ठीक बता रहे हो लेकिन अगले कल क्या होगा ये तुम चले जाओ अकेले में लिख के लिफाफे में रखो है ना और कल शाम को हम खोलेंगे हमको भी नहीं तुम तुम ही जानो तुम्हारे तुम्हारे और कोई बता जानो कल क्या होगा तो बता दो तो लगे इधर उधर देखने लगे है ना भूत की बात तो, अच्छा भूत में भी देखो कब तक का भूत बताओगे छह महीने बारह बरस सौ बरस एक जन्म दो जन्म तीन जन्म है ना अनादि भूत के साथ किसी की बुद्धि का संसर्ग हो सकता है जब काल की आदि अनुभव का विषय नहीं है अनुभव का विषय नहीं है क्योंकि तो काल स्वयं अनुभवात्मा है देव देवदत्त स्वाप काल देवदत्तात्मनो न भिद्यते देवदत्त के शयन का जो समय है वो देवदत्त के आत्मा से भिन्न नहीं है भिन्नत्व न अनुपलम्बा क्योंकि भिन्न रूप से उसकी उपलब्धि होती नहीं और यदि अनुभव अनुभव के भेद को छोड़ दें तो स्वयं प्रकाश आत्मा में काल नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो काल को हम अब आंख बंद करके सोचते हैं इसके पहले इसके पहले इसके पहले ये जो कल्पित अनादि काल है उसके साथ किसी की बुद्धि का संयोग नहीं हो सकता अनादित्व जो है वो विषय नहीं होता अनंतत्व जो है वो विषय नहीं होता कल्पितत्व न कोई वस्तु अनादि होती है कल्पितत्व न कोई वस्तु अनंत होती है हमसे अन्य रह करके कोई अनादि हो और अनंत हो आंख बंद करके केवल हम उसके अनादि और अनंत की बात सोच ही तो सकते हैं ना तो इसलिए है ना प्रत्यय रूप अनादित्व प्रत्यय रूप अनंतत्व अन्य का होता है, हैं और प्रत्ययाधिष्ठान रूप अनादित्व और अनंतत्व आत्मा का होता है इसलिए देश काल और वस्तु का जो अनादित्व और अनंतत्व है वो कल्पना मूलक कल्पनात है इसलिए कल्पना के अधिष्ठान में जब कल्पना ही मिथ्या है तो कल्पित पदार्थ का अनादित्व और अनंतत्व भी मिथ्या होता है इसलिए आओ इस अधिष्ठान वस्तु की जिज्ञासा करें जिसमें पूर्ण निर्भयता पूर्ण स्वातंत्र पूर्ण समत्व पूर्ण असंगता पूर्ण उदासीनता है ना पूर्ण अद्वितीयत्व स्वराज्य सिंहासन है ना इसको बोलते हैं स्वराज्य सिंहासन पर बैठो है ना ऐसा परमानंद ऐसा परमानंद इसके बराबर का दूसरा कोई है ही नहीं अच्छा आप कल सुनावेंगे

स्मृतिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुञ्जाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणाम् वरगत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः ॐ ओम पुष ओम पुष प्रत्यगात्मक प्रसिद्ध नचायामस्ति नियम पूर्वस्थित एव विषय विषयांतरम अभ्यसितव्यमिति अप्रत्यक्षे ही आकाशे बाला फलमलिनता भी अध्यक्ष्यंती एवं अविरुद्धा प्रत्यगात्मनि अति अनात्माध्यासा समेतम एवं लक्षण अध्यासम पंडिता अविद्या मनते सद्विवेके न च वस्तुस्वरूपावधारण विद्या आहो तत्र एवं सति यत्र जगध्यास तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि न संबद्ध है अच्छा प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है कि जो अपना आत्मा है वो सिद्ध नहीं है प्रसिद्ध है माने जिसको सिद्ध करने के लिए साधन की जरूरत पड़े सिद्ध और जो बिना साधन के ही पहले से मौजूद हो तो प्रसिद्ध साधन निरपेक्ष अपना आत्मा है एक बात दूसरे ये अपरोक्ष है अपरोक्ष का अर्थ ये है कि ये कभी हमसे किसी दिशा में दूर नहीं होता काल में दूर हो जाए एक सेकेंड आत्मा पीछे रह जाए और हम आगे बढ़ जाए या हम पीछे रह जाए आत्मा आगे बढ़ जाए ऐसा नहीं हो सकता दुनिया की कोई चीज एक सेकंड पीछे भी टूट सकती है एक सेकंड आगे भी हो सकती है परंतु अपना आत्मा एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान सब आगे पीछे हो सकते हैं अच्छा एक इंच भी आगे पीछे आत्मा को हम छोड़ के कहीं जा सकते हैं तो न एक सेकेंड न एक इंच अच्छा एक कण मात्र दूरी हो जाए हमारे और आत्मा के बीच में तो ये कण जो है ये वस्तु की प्रधानता से बोला जाता है और इंच जो है वो देश की स्थान की प्रधानता से बोला जाता है और सेकेंड जो है वो काल की प्रधानता से बोला जाता है माने किसी भी काल में हमारा अपना आत्मा किसी भी स्थान में हमारा आत्मा किसी भी रूप में हमारा आत्मा हमसे न आगे हो सकता न पीछे हो सकता न दूर हो सकता न निकट हो सकता न अन्य हो सकता तो परोक्ष नहीं हो सकता और इसकी अपरोक्षता जो है वो वेद्य मूलक नहीं है वेद्य मूलक अपरोक्षता जैसे घड़े को देखा और घटाकार वृत्ति हुई तो देख देख के वृत्ति बनना तो आत्मा को देख देख के वृत्ति नहीं बनती है ये वृत्ति बनना रूप नहीं है वृत्तियों का बनना न बनना इसी को भागता है इसी से भागता है तो अनुमान भी लोग कभी कभी गलत तरीके से करते हैं हाँ। एक बार हमारे एक साथी का मस्तिष्क कुछ खराब हुआ हो तो हम लोग गए थे मथुरा जैसे यहाँ विक्टोरिया चलती है ना वैसे वहाँ हाँ, जब मोटर बहुत नहीं थी तो घोड़ा गाड़ी उसको कुछ और बहुत बढ़िया बोलते हैं पेटल है पेटल है बग्घी हाँ। तो चढ़ के गए तो मैं तो बग्घी में बैठा रहा और हमारे साथी गए टमाटर खरीदने तो आधा घंटा हो गया घंटा हो आधा घंटा हो गया नहीं आए मैं ऊपर से गया कि भाई क्या हुआ चार आने का टमाटर लेना और आधा घंटा लग गया तो दुकानदार ने हमको देख के कहा कि स्वामी जी ये कहते हैं कि पंद्रह रुपए का टमाटर दे दो तो हम संकोच में पड़े हुए थे कि दें कि नहीं दें <laughs> तो मैंने पूछा भाई पंद्रह रुपए का टमाटर क्यों ले रहा है तो बोले कि चूंकि मेरे पास पंद्रह रुपए हैं इसलिए मैं पंद्रह रुपए का टमाटर ले रहा हूं तो, तो ये गलत अनुमान हुआ हो तो क्योंकि घड़ी को मैं देख रहा हूं इसलिए मैं हूं ये अनुमान का बिल्कुल गलत तरीका है घड़ी से मेरी सत्ता शुद्ध नहीं होती मैं से घड़ी की सत्ता शुद्ध होती है ज्ञेय से ज्ञानात्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती ज्ञानात्मा से ज्ञ की सत्ता सिद्ध होती है तो अपनी जो अपरोक्षता है हम स्वर्ग की तरह नहीं है हम नरक की तरह नहीं हैं हम वैकुंठ में रहने वाले की तरह नहीं हैं हम ज्यो के त्यों अभी हैं यही हैं और यही हैं बल्कि ग्राह्य और ग्राहक का जो भेद मालूम पड़ रहा है ग्राह्य माने घड़ी और ग्राहक माने आंख वाला अहंकार ऐसे समझो तो ग्राह्यातीत जो है माने घड़ी की तरह ब्रह्मांड घड़ी की तरह कोटि कोटि ब्रह्मांड और उन ब्रह्मांडों से जो अतीत है वो देश में अतीत नहीं है यही अतीत है और वही ग्राहक से भी अतीत है तो ग्राह्य ग्राहक भाव दोनों इधन तया मालूम पड़ रहे हैं और जिसको ग्राह्य और ग्राहक कोटि कोटि ब्रह्मांडात्मक विषय और इन विषयों को ग्रहण करने वाला विषयी ये दोनों जिससे मालूम पड़ रहे हैं वो परोक्ष कहाँ होगा आपको ये तो मालूम होगा कि श्रम जो है वो वस्तु की शुद्धि करता है फूल को धो दो शुद्ध हो तो जाएगा और सोने को तपा दो शुद्ध हो तो जाएगा मिट्टी पर झाड़ू धरती पर झाड़ू लगा दो शुद्ध हो तो जाएगा श्रम से वस्तु की शुद्धि होती है और धर्म से अंतकरण की शुद्धि होती है श्रम से भीतर की शुद्धि नहीं होती श्रम में जब उद्देश्य होगा श्रम में जब भावना होगी है ना श्रम में उद्देश्य होगा श्रम में भावना होगी और श्रम में आज्ञाकारित्व होगा विधि हो अधिकारी हो विधि हो श्रद्धा हो उद्देश्य हो है ना तब श्रम धर्म हो जाता है और वो कर्ता को शुद्ध करता है नहीं तो केवल बाहरी पदार्थों को शुद्ध करने वाला होता है भीतर को शुद्ध करने वाला भीतर को शुद्ध करने वाला नहीं होता उपासना लक्ष्य को शुद्ध करती है माने जिसको हम पाना चाहते हैं अगर उसका ध्यान करेंगे तो उसका स्वरूप क्या है ये हमको मालूम पड़ेगा धीरे धीरे कैसा है वो और योगाभ्यास है ना योगाभ्यास दृष्टा को दृष्टि से जुड़ा करता है धर्म देखो श्रम बाहर की वस्तु को शुद्ध करता है धर्म अंतकरण को शुद्ध करता है उपासना लक्ष्य के स्वरूप को लिखाती है लिखाने में मददगार है और योगाभ्यास स्वम पदार्थ आत्मा को लिखाने में मददगार है लेकिन वहाँ उपास्य से अवच्छिन्न जो चैतन्य है तत्पद लक्षण और यहाँ जो ग्राहक से अवच्छिन्न चैतन्य है त्वम पदार्थ ये ग्राह्य ग्राहक के भेद से भिन्न भिन्न नहीं होता अभिन्न ही रहता है तो तत्र देशानवच्छिन्न कालानवच्छिन्न द्रव्यानवच्छिन्न और अत्र देशानवच्छिन्न कालानवच्छिन्न द्रव्यानवच्छिन्न जो वस्तु है वो बिल्कुल अद्वैत है बोला एक है अद्वैत है तो ये बात दिव्य मूलक आत्मा का ज्ञान नहीं है हाँ, आत्मा का जो स्वरूप है वो वेद्य से सिद्ध नहीं है आत्मा से सिद्ध है अच्छा अब दूसरी बात देखो हमारे विषय ज्ञान में और आत्मज्ञान में देखो जरा बिग भेद का विचार करो ये कागज क्या है ये बताने के लिए बाहर की रोशनी आप है ना और कागज क्या है ये जो पहले जाना सुना हुआ है उसके संस्कार से संस्कृत बुद्धि इनकी अपेक्षा होगी ये कागज भी होना चाहिए रोशनी भी होनी चाहिए आंख भी होनी चाहिए और ये तक विषयक संस्कार से संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए तब आप कागज को पहचानेंगे इसका नाम होगा विज्ञान वैविध्य युक्त ज्ञान विज्ञान का अर्थ समझो वैविध्य युक्त ज्ञान विषयक ज्ञान नारायण और प्रत्यगात्मक ज्ञान जो है उसको देखने के लिए न तो कागज जैसे किसी विषय के होने की जरूरत है न सूर्य की रोशनी की जरूरत है न आंख की जरूरत है न तत्त संस्कार से संस्कृत बुद्धि की जरूरत है सबका अपवाद करके आत्मज्ञान होता है तो जैसे समझो बीच में शरीर है और बाहर की ओर विषय ज्ञान है और अंतर की ओर आत्मज्ञान है तो जिससे अंतर में गति होगी वो आत्मज्ञान का हेतु होगा और जिसमें बहिर्गति होगी उसमें विज्ञान का वो विज्ञान का हेतु होगा हम शास्त्रीय अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे आजकल साइंस के लिए जो विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है ना वो कर रहे हैं अच्छा आपको तो, अब देखो इसमें बड़ा फर्क है विज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है कि जो आधुनिक है? है इस सेकेंड तक जो आविष्कार हुआ है वो श्रेष्ठतम आविष्कार है ना आज से हम जो देख रहे हैं यहां तक का आविष्कार चाहिए और ईश्वर के ज्ञान के लिए जहां तक हम और ईश्वर अभिन्न न हो जाएं, वहां तक का ज्ञान चाहिए माने आत्म चैतन्य से जहां तक ईश्वर का अभेद न हो जाए वहां तक का ज्ञान चाहिए प्राचीन हाँ। ये आप जानते हैं ये हमारे संस्कृत में शब्द का प्रयोग होता है ना प्राक और प्रत्यक्ष तो ये तो जरा आपको तो शायद परिचित न हो प्राची और प्रतीति ये उससे आसान है प्राची माने पूर्व और प्रतीति माने पश्चिम है ना देखो प्राक और प्रत्यक्ष पराक पराक माने बाहर हाँ, और प्रत्यक्ष माने भीतर क्या हुआ पूरा मुंह से खड़े होगा पूर्व सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होना तो जो पूर्व है वो विषय विज्ञान है और जो पश्चिम है पश्चिम है माने सबसे पीछे है हृदय में है वो आत्मविज्ञान है है ना तो देखो पूरब में कृष्ण लीला करते हैं और पश्चिम में निराकार हो जाते हैं लीन हो जाते हैं भीतर अब देखो ईश्वर के लिए प्राचीन ज्ञान की आवश्यकता है बोला ये देखो प्रतिशील प्रतिशील ज्ञान की आवश्यकता है भीतर से भीतर भीतर से भीतर जो सबसे पहले है जो सबके आदि में है, है? जो सबसे अंतरंग में है जो बिना किसी विषय के व्यवधान के है वो आत्मा करो तो अपरोक्ष है वो कहने का अभिप्राय कि परमात्मा अपरोक्ष है इसकी अपरोक्षता को समझो हाँ। एक बात आपको ये सुनाता हूँ ये भी ध्यान में रखना कि यदि हम सृष्टि की आदि देखने जाएंगे तो आपकी बुद्धि हमेशा यात्रा करती रहेगी आदि वादी नहीं दिखेगा कुछ हाँ, कल्पना करते रहेंगे और अंत देखने जाएंगे तो भी केवल कल्पना करते रहेंगे कह देना कि जब सृष्टि का अंत होता है तब हमारे भूत भैरव गणेश देवी और कुछ न कुछ रहते हैं और जब आदि होती है तब हमारे कुछ रहते हैं ऐसे नहीं होता यदि आप इस समय दिखने वाले देखने वाले को नहीं पहचानोगे तो सृष्टि के प्रारंभ में भी देखने वाले और दिखने वाले को कैसे पहचानोगे बुद्धि का अनादिभूत से और अनंत भविष्य से बुद्धि का कभी संबंध नहीं हो सकता है इसलिए अनादि और अनंत के बारे में सारी की सारी कल्पना होगी सृष्टि के प्रारंभ और अंत के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो सब का सब कल्पित क्योंकि वर्तमान बुद्धि अनादिभूत और अनंत भविष्य ये आपको मालूम होना चाहिए कि भूत जो है वो अनादि होता है भूत को कभी कोई पकड़ नहीं सकता और भविष्य अनंत होता है उसको भी कभी कोई पकड़ नहीं सकता तो यदि हम ईश्वर को जान सकेंगे तो वर्तमान के द्वारा जान सकेंगे और वर्तमान के द्वारा दृश्य जो है वो परापेक्ष पराधीन है और दृष्टा जो है वो दृश्य की अपेक्षा स्वाधीन है हाँ, दृश्य के परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद होते हैं और आत्मा केवल अपरोक्ष ही होता है अपरोक्ष स्वयं प्रकाश होकर के बोला अवेद्य होकर के अपरोक्ष है ये आत्मा की स्वयं प्रकाशता है ये छठ पटादी के समान वेद्य नहीं है और कभी स्वर्ग आदि के समान परोक्ष नहीं होता तो आत्मविद्या परोक्ष विद्या नहीं है ये अपरोक्ष विद्या है ये कोई रहस्य बात नहीं है बोला हाँ एक रात के बाद होता है आओ हमारा टीला बनाओ बनाओ तो फिर उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद तुमको मूलाधार से उठाएंगे कोई कहेगा नहीं नहीं मणिपूरक से नाभि से उठाएंगे कोई कहेगा नहीं अनाहत से उठाएंगे तो हमको तो सब मतभेद मालूम है बोला कम से कम कोई एक सौ मतों की साधना की पद्धति हमारे दिमाग में तुरती है जैसे दाल पदकती है ना वैसे पदकती हो साधना क्या क्या साधना करते हैं आज्ञा चक्र से शुरू होता है कनई सहस्त्रार में होता है है ना तो बाहर होता है दूर होता है भीतर होता है हाँ। और जिसको होता है है ना जिसका ब्याह उसका पता ही नहीं है ना जिसका ब्याह उसका तो पता ही नहीं बराती लोग सब माल खा गए तो हाँ हाँ तो ये जो आत्मदेव है ना आत्मदेव अपना आपा ये सदा अपरोक्ष है तो इस अपरोक्ष स्वयं प्रकाश आत्मा को इस प्रत्यक्ष दृश्य के साथ मिलाना यह मैं और यह मेरा देखो जो यह है तो मैं नहीं और जो यह और मैं दोनों का दृष्टा है वो न मैं नहीं यह केवल चिन्मात्र आत्मा सदा अपरोक्ष मुझको क्या तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास है लेकिन ये मैं मेरा जो है ना ये बहुत सुख देता है हो व्यक्तित्व की जो प्रतिष्ठा है वेदांत जो है ये सीढ़ी के रूप में संप्रदाय को मानता है सीढ़ी के रूप में आचार्य को मानता है हाँ, सीढ़ी के रूप में वचन को मानता है और अंत में तो असंप्रदाय अनाचार्य अवचन अनिर्वचनीय का और क्या अर्थ होता है केवल बोलना नहीं निर्वचन बुद्धि से अलगाव केवल जीव के वचन का निषेध नहीं बुद्धि के शब्द का भी जो निषेध करने वाला है उसमें आचार्य और संप्रदाय और मंत्र का क्या अर्थ होता है आप सभी अनिर्वचनीयता पर ध्यान दें एक छुट पूजिए लोग कोई एकाध बात कह देते हैं उन तो लोगों को बड़ी अच्छी लगती है हाँ बड़ी भारी कही बड़ी भारी कही बड़ी भारी बात कही और वेदांत के अभिप्राय को आप हृदयंगम करो और ये कोई व्यवहारातीत वस्तु नहीं है बोला इसका अर्थ है कि कटने वाले अहंकार के साथ मत जुड़ो अब देखो कितना साफ है मैं सुखी हूं एक अहंकार होता है, है? बोले इसके साथ जुड़ो मत जाने वाला है तब मैं दुखी हूँ ये एक अभिनाम होता है इसके हम्म? साथ मत जुड़ो ये जाने वाला है रहेगा नहीं मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ तब मैं पापी हूँ ये अभिमान आम प्रति प्रत्यय प्रत्यय जो है वो कोई अखंड नहीं होता इसलिए जिंदगी में मैं जिंदा हूँ का इस प्रत्यय के साथ मत जुड़ो मैं मुर्दा हूँ इस प्रत्यय के साथ मत जुड़ो जो मैं मुर्दा हूं इस प्रत्यय के साथ जुड़ेगा है वो भूत हो जाएगा भूत प्रेत वही होता है वो तो मैं मैं मर गया मैं जिंदा मैं मर गया ये सोचते हैं रो रहे हैं हाय हाय मैं मर गया एक आदमी सिर्फ भोंक के रो रहा क्या कहा हाय हाय मैं मर गया तो आप उसको क्या कहेंगे ये मरा हुआ आदमी सिर्फ भोंक के रो रहा है कि मैं मर रहा हूं है तो दिखता है जिंदा और है ये मरा हुआ तो कौन है का बोले भूत प्रेत है भूत यही भूत प्रेत का मरने का भी अभिमान हो और जिंदा रहना जो है ना अज्ञात रूप से जिंदा रहना भी हो तो भूत प्रेत हो गया ना वो तो देखो सारे तो दुख कट गए मैं पापी हूँ मैं पुण्यात्मा हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं स्वर्ग नरक में जाने आने वाला हूँ मैं परिच्छिन्न हूँ ये सारे तो अहंकार कट गए और निर्भयता आ गई बात बात में जो पांव पांव में डर पा रही यहाँ टीपी न मरे और यहाँ मच्छर न मरे तो सारा डर कट गया है इकट्ठा करने का लोभ कट गया और आवे इसकी कामना कट गई है क्योंकि हम प्रत्यय एक रहता ही नहीं इसका जो साक्षी है तो एक रहता है शेष एक रहता है तो ये इस अपरोक्ष आत्मा को प्रत्यक्ष के साथ देह के साथ अभिमान जोड़ करके मैं मेरा ये दुख से लोग दुखी हो रहे हैं बोले अब ये देखो आत्मा अगर दिखती तो उसमें अभ्यास होगा ये दिखती नहीं है तो अभ्यास कैसे होता है एक प्रश्न तो इस प्रश्न का समाधान ये किया कि आत्मा हमेशा ही दिखती है न दिखती हो ऐसा है ही नहीं है ना ये तो अपरोक्ष है अपना आपा और अभ्यास भी इतने करते हैं जैसे एक खेत खरीदा तो बोले मेरा है बेच दिया तो बोले मेरा नहीं है अब मेरापन का ब्याज कट गया कि नहीं ब्याह कर लिया तो हो गया मेरा और तलाक दे दिया तो खत्म जनेऊ पहन लिया तो ब्रह्मचारी गृहस्थ हो गए और जनेऊ निकाल दिया तो सन्यासी हो गए तो ये अभ्यास हुआ तो इसका नाम इसका नाम अभ्यास हुआ हो हाँ अच्छा फिर ये जो देह है आठ पौंड का था तब भी मैं और दो सौ पौंड का हुआ तब भी मैं नारा अरे भाई तुम अपना तो लो पहले बचपन में जितना था उतना मैं समझो हाँ, ये तो तुमने बाहर से रोटी गुदेड़ घुसेर के और दूध दही घी मक्खन गुदेड़ गुदेड़ के आठ पौंड को दो सौ पौंड बना लिया डेढ़ सौ पौंड बना लिया जितने पैदा हुए थे उतने ही अपने आठ पौंड से ज्यादा अपने को क्यों मानते हो हाँ। बोले आठ पौंड मानना भी गलती है ना माँ के पेट में आए थे माँ के पेट में आए थे तो कितने थे सोलह माता का नहीं अरे एक एक बूंद के सैकड़ों सैकड़वा है ना इससे से तुम्हारा शरीर बन गया तो उतना ही अपना वजन मानो ज्यादा क्यों मानते हो ये बाहर बाहर से घुटेड़ते भी जाते हो है ना माता का रज शरीर में गया पोषण शरीर में गया है ना और फूल के हाथ पौंड के हो गए उसको मैं क्यों मानते हूँ अच्छा पिता के वीर में जो थे सो मानो है ना तो असल में ये जैसे धनी लोग जो है ना ज्यो जो पैसा बढ़ता जाता है बीस हजार था लाख हुआ दस लाख हुआ करोड़ हुआ जैसे मेरा का पेट फूलता जाता है वैसे मैं का भी पेट फुलाते जाते हैं बच्चे ये कहा इसी का नाम अध्यास है जो चीज मैं नहीं है जो चीज मेरा नहीं है उसको मैं मेरा मान बैठना अभ्यास माने उल्टा ज्ञान जो चीज जैसी है उसको वैसी न समझ करके उसकी प्रकृति के स्वरूप के विपरीत उसको जानना और मानना इसका नाम अभ्यास है जो बिल्कुल हिंदी में इसकी परिभाषा लिख लो